पता नहीं है क्यों हो रही है ये बातें उसके भीतर आपको पता है क्यों आपके भीतर क्रोध पैदा होता है आपको पता है क्रोध से भर जाए और गुस्से में दो शब्द बोल दे तो शायद आपको